Allah. Yeah. Allah. Raja the Punjabi rap star. Allah. Tribute Allah. to best se best yasi jamaat in Pakistan. Allah. Yeah. Allah. Yeah. उसी पे मोर लगाएंगे उसी पे मोर लगाएंगे तहरीक चली जो एक लहर उठी जो इंसाफ को लेके और अमन की जामिन है तुम में से ही है मुझ में से ही हर पाकिस्तानी हर बच्चा बुढ़ा है तेरा सहारा गुर्बत से किनारा दे रोजगार जो जो संग चले वो ईमानदार जो है दीनदार जो बेखौफ खड़े जो महंगाई घटाए खुशहाली लाए हर हाथ ये बोले हर वोट ये बोले हर दिल की धड़कन हर पाकिस्तान कुर्सी पे मोर लगाएंगे कुर्सी पे मोर लगाएंगे कुर्सी पे मोर लगाएंगे कुर्सी पे मोर लगाएंगे जो डैम चाहिए वो डैम बनाए जो दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन को डराए जो बिजली लाए जो बोले तुमसे वो करके दिखाए फिर चुनना तुम भी और चुनूंगा मैं भी मकरूज हुए तुम सदियों से वो कर्ज उतारे ना झूठे वादे करने वाले सच को लेकर चलने वाले पिछड़ गए जो अपने हमसे साथ मिलाए ना जात पात है ना फिर का माने एक कौम बने जो सब साथ चले जो सैलाब आया तो साथ न छोड़ा जलजले में हाथ न छोड़ा ला लिए जो हाथ था मैं साथ निभाए उसी पे मोर लगाएंगे उसी पे मोर लगाएंगे उसी पे मोर लगाएंगे उसी पे मोर लगाएंगे Raja the Punjabi rap star